उसने कभी पूर्ण ग्रहाई असत्य त्यागी होकर के प्रयास करके नहीं देखा जैसे ही वो सत्य ग्रहण असत्य छोड़ने में उचित होने की बात सोचता वहां उसको डर लगता अब ध्यान देना क्या हम इसी के लिए उत्पन्न हुए थे क्या इसी के झंझट में इन उलझनों को उत्पन्न करते रहना दुखी रहना और उनको दुखी करने के लिए ये मनुष्य दान किए हुए हैं क्या इसको सोचो आप विचार एक कसौटी है ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव वेद उसके अनुरूप जो कार्य है वह हमको करना चाहिए उसके प्रतिकूल जो कार्य जो भी कुछ है उसको छोड़ देना यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम निश्चित रूप में दोषी हैं और न ही अपना प्रयोजन सिद्ध कर पाएंगे न दूसरे का प्रयोजन सिद्ध कर सकेंगे इसलिए व्यर्थ इसे जीवन में दौड़ धूप करना यह मनुष्य का धर्म नहीं है इधर उधर की बात अपनाई व्यक्ति ने उस संस्कार पड़े हुए ने व्यक्ति के जन जन्मांतर के उनसे प्रभावित ये व्यक्ति समाज से प्रभावित ये व्यक्ति अपनी मान्यता बनाई इस व्यक्ति ने उनके आधार पर खुले मन से ठीक स्वतंत्र विचारधारा के रूप में ये अपने आप को रख नहीं पाता पहले से जैसी मान्यता बनी वो बनी हुई बाल्यावस्था में जो मान्यता बन गई वो बन गई उनसे इधर उधर नहीं होना चाहता उस अवस्था में अपने गुण प्रदर्शन करवाना देखना ये अच्छे गुण हैं मेरे अंदर ये विशेषताएं इसके अंदर क्या दूसरे में इत्यादि उसने ऐसी रूपरेखा बना ली अपने जीवन की उनको छोड़ के वो दूर होकर विचार करना नहीं चाहता उन्हीं में रहता है उन्हीं से प्रभावित है विद्वान होने पर भी उन्हीं के ढंग का उसका दिमाग है ऐसा व्यक्ति कभी सत्या सत्य को नहीं जान सकता नहीं पहुंच सकता लक्ष्य उसको तो एक प्रकार से मर के जन्म लेना पड़ता है जो सत्यग्राही व्यक्ति मर के जन्म लेना ये अत्यंत परिसंसाध्य है परंतु असंभव कुछ भी नहीं है जो एक व्यक्ति कर सकता है इस कार्य को उसको सब व्यक्ति कर सकते कालांतर में करें जन्मांतर में करें यह तो हो सकता है पर जिसको एक व्यक्ति कर सकता है उनको और भी कर सकते ये लाखों ऋषि हुए ये लाखों ऋषि हमारे जैसे जीवात्मा तो थे कोई अलग से नहीं हम जैसे हैं वैसे बोलते कोई अंतर नहीं है जीवात्माओं नैमित्तिक दोष गुण जीव में आते रहते अब जिस वो ऐसा कर सकते थे तो हम क्यों नहीं कर सकते तो इसलिए ये सोचने का जो ढंग है पद्धति है ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप वेदों के अनुकूल ऋषि ग्रंथों के अनुकूल ये सोचना विचारना आना चाहिए उसी शैली से करना चाहिए तो हम अपने आप को ठीक लक्ष्य पर पहुंचने वाला बना सके और ये जो व्यक्ति में दोष आते हैं मुख्य लक्ष्य प्रयोजन को छोड़ के गौण मौन ले लेना ये हमारे अंदर नहीं आई एक एक बात को सोचते जाइए उसका समाधान निकलेगा कोई ना कोई कहीं समाज बाधक दिखता है कहीं दूसरे लोग बाधक दिखते हैं कोई न कोई वो बाधक बाहर से उसको दिखता रहेगा या कोई ऐसा आएगा कोई ऐसा जो तो बाधक नहीं दिखाई देगी ऐसा जीवन का कोई अंश है क्या जिसमें बाधक दिखाई नहीं देता हो और ऐसा भी अंश है क्या जिसमें स्वयं बाधक नहीं दिखता हो दोनों संबद्ध रहेंगे हमारा शरीर हमारी इंद्रियां ये सब सत्व तम से बने हैं हमारे संस्कार हमारी अल्पज्यता ये सारे के सारे आंतरिक ये बात खड़े रहेंगे आपके सामने समाज में बाहर की स्थितियां सारी आपके सामने खड़ी रहेंगी इसलिए अवसर है समय है कम से कम ईश्वर प्राप्त करने की रूपरेखा तो आ गई समझ में ये मार्ग तो मिल गया कम से कम वेद वेदानुकृषि ग्रंथों का विशुद्ध संविधान तो उपलब्ध हो गया पढ़ने पढ़ाने की अवस्था तो उपलब्ध हो गई और जितना ही लंबा चौड़ा संसार है इसको तो ये बात ही उपलब्ध नहीं है उनको रूपरेखा ही ठीक समझ में नहीं आई उनको कोई विधान ही नहीं मिला मिला तो गलत मिला वेद के विरुद्ध है इसी ग्रंथों के विरुद्ध है परमात्मा के आज्ञा के विरुद्ध है ऐसे पूरे भूगोल में करोड़ों लोग चक्कर काटते हैं ईश्वर को मानने वाले और फिर न मानने वाला नास्तिक वर्ग अब उससे आप बच गए अब बच करके भी आप भाई उसी चक्कर में पड़े एक चक्कर में वो थे दूसरे में आए आप तीसरे चक्कर में आगे खड़े हुए बताओ क्या लाभ हुआ इसलिए विचारना सीखो सफलता मिलेगी अब विराम Thank वेद मंत्रों में जो विद्या है उसको व्यक्ति अच्छे प्रकार से समझ ले और उसके पश्चात अपने जीवन में उतार लेवे तो निश्चित रूपेण व्यक्ति सफल हो जाता है इस मंत्र में इंद्र नाम ईश्वर का वाचक है जीवात्मा कहता है हे इंद्र तेरी मित्रता में हम रहे तेरे साथ हमारी मित्रता बनी रहे के अनुसार इंद्र नाम जीवात्मा का भी है और ईश्वर का भी है और प्रकरणानुसार राजा का भी नाम इंद्र कहीं बिजली का नाम इंद्र है तो ऐश्वर्य वाला बल धन संपत्ति आनंद इत्यादि इन संपदाओं से इंद्र है यहां पर जीवा ईश्वर का नाम इंद्र है और हम ईश्वर के ऐश्वर्य को यदि देखते हैं तो इतना अधिक है कि उसको हम जान नहीं सकते कुछ ईश्वर के ऐश्वर्य हैं एक ईश्वर का ऐश्वर्य है विद्या ईश्वर के अंदर इतनी विद्या है व्यक्ति कोई कुछ कल्पना नहीं कर सकता ये जो संसार दिखाई देता है नहीं देता दिखाई और कितना दूर दूर तक है इसकी कल्पना व्यक्ति नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति इस संसार की अवधि को नहीं जान सकता इतना दूर दूर तक आज के भौतिक वैज्ञानिकों ने जो खोज की बहुत दूर दूर की खोज की गवेषणा करते करते थक गए अब आगे वो कहां तक गवेषणा कर सकते इसकी रचना इसका निर्माण और उसके पश्चात इसका पालन और सभी जीवों को उनके ध्यान कर्म उपासना के अनुरूप फल देना एक क्षण भर में कौन कौन प्राणी क्या बुरे अच्छे कर्म करते हैं कौन प्राणी क्या क्या बुरी उपासना करते हैं अशुद्ध उपासना करते हैं कितने व्यक्ति अज्ञान का उपार्जन करते हैं जो हम अज्ञान का उपार्जन करते हैं उसका भी हमको फल मिलता है और ज्ञान का उपार्जन करते हैं उसका भी फल मिलता है जो हम शुद्ध उपासना करते हैं उसका भी हमको फल मिलता है जो अशुद्ध उपासना करते हैं उसका भी फल मिलता है जो हम शुद्ध कर्म करते हैं उसका भी फल मिलता है जो अशुद्ध कर्म करते हैं उसका भी फल मिलता है सभी जीवों के शुद्ध ज्ञान कर्म उपासना का फल कितना दे चुके हैं कितना देना शेष है कितने किसने बुरे अच्छे किए इसको जानना कितनी कठिन बात है वे क्या कल्पना करें और कभी भूल नहीं होती बुद्धिमान सभी जानते हैं संसार के अंदर विद्या अनंत है विद्या की कोई सीमा नहीं कोई सीमा नहीं करती आज बड़े से बड़े विद्यालय में चलिए भौतिक वैज्ञानिकों के पास में चलिए एक व्यक्ति पूरा जीवन आयुर्वेद की चिकित्सा आयुर्वेद विज्ञान में लगाता है कोई कृषि विज्ञान में लगाता है कोई वनस्पति विज्ञान में लगाता है पूरे एक विषय पर भी वो व्यक्ति पूरा अधिकार नहीं रख सकता कि मैं सारा जानता हूं सैकड़ों विषयों की तो बात कहा है अब कितना ज्ञान विज्ञान होगा कल्पना नहीं कर सकता सभी विषयों में सर्वथा सर्वदा ठीक ठीक जानना ये ईश्वर का ऐश्वर्य है आर्य समाज के नियम में एक बात कही सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है सब सत्य विद्या अब सब सत्य विद्या कौन सी जो भी तीन काल में विद्या हो सकती है और वो विद्या भी सत्य ही होगी उल्टा ज्ञान नहीं उसका आदि मूल उससे युक्त उसका आधार उसको रखने वाला एक ईश्वर है भौतिक विज्ञान जितना है वो सत्य विद्या में आता है आत्मा संबंधी जितना विज्ञान है वो सत्य विद्या में आता है ईश्वर संबंधी जितना विज्ञान है वो सत्य विद्या में आता है किसी भी प्रकार का ज्ञान विज्ञान है वो सत्य विद्या है और उसका आदि मूल परमेश्वर है उससे परिपूर्ण परमेश्वर है उसी विद्या में से हमको विद्या देता है ईश्वर अनंत विद्या ये ईश्वर का ऐश्वर्य है अब बल की ओर चलो अनंत बल है ईश्वर और कैसा भी चित्र बल है ऐसे खंभे की तरह खड़ा है ईश्वर पूरे विश्व का निर्माण और पूरे विश्व को मिटा देना पूरे विश्व की रचना करना और हिलता जुलता नहीं या हिलता जुलता है बोलो तो बिना हिले जुले क्रिया कैसे करेगा कौन कौन सारी बताएंगे जी सर्वव्यापक तो है फिर हिले डुलेगा नहीं तो दो परमाणुओं को मिलाएगा कैसे कोई चीज मिलाई जाती है तो ऐसे मिलाना मिलाना पड़ता है, क्रिया तो करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती बिना क्रिया किए कोई कार्य होता है क्या दुनिया में स्वयं क्रिया नहीं करता ईश्वर है स्वयं ईश्वर क्रिया नहीं करता अपने हाँ इनको परमाणु में क्रिया करता है उसको गति देता है कैसे जैसे उदाहरण दो कोई जैसे चुम्बक का हाँ चुम्बक एक समय होता हुआ दूसरे परमाणु भी देता है अपनी शक्ति ऐसे ही ईश्वर अपनी शक्ति से उन परमाणुओं को जोड़ देता है ईश्वर ज्ञानमान और ईश्वर बनवान और इस विश्व को कैसे बनाता है और इसको फिर कैसे पालन करता है जीव को यहां से वहां ले जाना और फिर परलय भी करता है अरबों खरबों लोग लोकांतरी इसको गिर नहीं सकता व्यक्ति वो बिना बल के तो चीज बनती नहीं क्या समझिए आप क्या बनती है कोई वस्तु जब बनाई जाती है तो उसमें बल लगता है बिना बल के बन नहीं सकती और आश्चर्य की बात यह है भूमि में बल हो सकता है जल में बल देखा जाता है और अग्नि में भी बल देखा जाता है और वायु में भी बल देखा जाता है परमात्मा का बल तो यहां कहीं दिखाई कहां देगा वो कहां रहता है वो बल व्यक्ति चक्कर काटता है आश्चर्य में पड़ जाता है कोई धक्का मारता नहीं इसमें भार नहीं इसमें रूप नहीं अनंत बलवान अब वैज्ञानिक लोग इसी में तो घबरा जाते हैं कि बलवान कैसे मान लें उसको ये प्रकृति कितनी बड़ी होगी जिससे सारा संसार बनाया उस प्रकृति में कितना बल है लोक लोकांतरों में कितना बल है सारी वस्तुओं को देखो कितना बल है और ये जितना बल प्रकृति और प्रकृति से बने संसार में है और परमात्मा के सामने वो कितना छोटा है कितना थोड़ा है इतना ही नहीं इस प्रकृति में ये बल दिखाई देता है इससे बनी चीजों में शक्ति सामर्थ्य जीवन दिखाई देता है यदि ईश्वर ईश्वर को ऐसे न बनाए सूर्य चंद्रमा को न बनाए वायु जल को न बनाए तो हमको एक तिल भर बल नहीं दे सकती है चीजें कोई वस्तु ऐसी नहीं है बिना ईश्वर की सहायता के हमको बल दे सके कोई बल नहीं दे सकता अनंत फल ये ईश्वर का ऐश्वर्य है अब आनंद की ओर चलो ईश्वर में अनंत आनंद है ये ईश्वर का ऐश्वर्य है हम सांसारिक वस्तुओं में आनंद लेते हैं खीर हलवा लड्डू कल आपको माता जी ने परौंठे खिलाए थे उसमें कुछ आनंद तो होगा या नहीं था कैसा लगा आनंद था क्या थे नहीं पता कौन ब्रह्मचारी बताएगा जिसमें आनंद था क्या थे नहीं पता हाँ नाम उत्तर दे वैसे क्यों बैठे हो था क्यों जी आप बोलोगे आनंद था थे में आनंद था या नहीं था जी अजन्मा आनंद के साथ दुख या नहीं था है? आना मुझसे देवाजे क्यों बचे था हाँ दुख था वो दिखाई दिया या नहीं दिया जैसे आनंद दिखाई दिया जैसे दुख भी दिखाई दिया है हाँ जी दिया हाँ अनुभव हुआ या अनुमान लगाया एक तो होता ना अनुभूति ए आनंद तो अच्छा लग रहा था वो तो स्पष्ट था <laughs> वो तो आनंद दिखाई दे रहा था जैसे वो आनंद दिखाई दे रहा था वैसे दुख भी दिखाई दे रहा था अथवा तो दुख अनुमान प्रमाण से जान रहे थे इसमें दुख भी है हम्म। तो अब आप देखेंगे परामठे में जो आनंद था लड्डू में जो आनंद है जितना अब उसकी तुलना करें आप परमात्मा में बिना किसी दोष के दुख रहित है अनंत आनंद और आश्चर्य की बात तो यह है हमारे घरों में कमरों में हमारे शरीर में और बारिश आकाश में आनंद भरा पड़ा है और उस आनंद को लेने की बात नहीं सोच रहा व्यक्ति आश्चर्य की बात तो यह है आप सोचते हैं ब्रह्मचारी लोग ये मानते भी हैं पहले तो ये देखो आपको मन में बैठा है नहीं आनंद भरा हुआ है यहां नहीं बैठा मन है जी नहीं बैठा तो कब तक बैठा लोगे इसको आप पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं सुनते सुनाते हैं और आनंद भरा हुआ है आश्चर्य की बात तो यह है कि उस आनंद को आप पंद्रह वर्ष किसी को हो गए किसी को बीस हो गए किसी को पांच हो गए उस आनंद को नहीं पकड़ाया आप ये क्यों नहीं जानते मानते यदि आनंद है तो हमको पकड़ लेना चाहिए या है नहीं कोई न कोई बात तो होनी चाहिए या ऐसे ही ढीला छोड़े रहोगे आप ऐसे ही चलते रहो यदि वो सत्य है आनंद तो उसको प्राप्त करो यदि सत्य नहीं है तो उसका खंडन करो इसलिए वेद दर्शन उपनिषदों में ईश्वर का आनंद इतना है कि उसको कोई माप नहीं सकता एक कल्पना करके आनंद को समझाने का प्रयास किया उपनिषद उसने एक लौकिक दृष्टांत लिया उसका भाव सुनाता हूं एक व्यक्ति जवान है बहुत बलवान है महान विद्वान है जितेंद्रिय है पूरे लोक पर अनुशासन कर सकता है एक व्यक्ति है उसका कितना आनंद हो सकता है फिर उसने कहा कि ऐसे ऐसे सौ व्यक्तियों को मिलाओ उनका एक बना लो सौ का उसका कितना आनंद होगा एक व्यक्ति का उसका जो सौ का एक बनाया उन सौ का एक और बना लो उसका कितना आनंद होगा फिर जिन सौ का एक बनाया उस एक के सौ इकट्ठे कर लो ऐसे लगभग दस तक चला होगा बनाता चला ये भी केवल हीन उपमा है तुलना तो हो ही नहीं सकती कहने लगे ये ब्रह्मानंद की मीमांसा परमात्मा का आनंद आज का भौतिक वैज्ञानिक भटका हुआ घूम रहा है और वो मानता है मैंने जानना था जो जान लिया यही सब कुछ है अब न ईश्वर को जानता ना वह आनंद को जानता भटक रहा है और दुनिया को भटका रहा है आप यदि नहीं जानोगे तो आप ऐसे भटकोगे कुछ दिनों में और हो सकता है आपने योगाभ्यास नहीं किया यम नियम का पालन नहीं किया तो इस विद्या को आप गालियां देंगे आगे चले या नहीं देंगे क्या होगा बताओ इतने दिन लगाए दर्शनों को उपनिषदों को पढ़ा वेद को पढ़ा और मिला कुछ भी परिणाम यही होगा एक व्यक्ति थे कोई गुरुकुल में पढ़े और उसने बताया पढ़े लिखे व्यक्ति लोगों ने सुनाया मुझे उन्होंने कहा मैं पच्चीस वर्ष से संध्या करता चला आया हूं मुझे आज तक कुछ भी नहीं मिला कुछ भी नहीं मिला उसको और जबकि पढ़ाने का बिल्कुल काफी परिणाम यही निकलेगा आप यदि विशुद्ध रूप में सत्य की गवेषणा नहीं करेंगे खोज नहीं करेंगे योगाभ्यास नहीं करेंगे यम नियम का पालन नहीं करेंगे तो आपके सामने भी समस्या आएगी बच नहीं सकते आप व्यक्ति दो धाराओं को देखता है या तो सांसारिक सुख की ओर भागता है वहां से सुख मिलता है खाने में पीने में पांच इंद्रियों का सुख है या फिर परमात्मा से आनंद की उपलब्धि होती है उस ओर से सुख उसको न तो ईश्वर की ओर से आनंद की उपलब्धि हो और संसारी को उसने छोड़ दिया था अब कोड़ा लक्कड़ की तरह सूखा पड़ा क्या समझा कोई रस नहीं है उसमें दुखी है बेचारा देखता है मैं कहां चला जाता संसारिक ढंग से पढ़ता तो मैं प्रोफेसर ये बन जाता इंजीनियर बन जाता डॉक्टर बन जाता लाखों रुपया कमा डालता कारों में बैठता है ये क्या हो गया <laughs> ऐसा करोगे या नहीं करोगे आप यदि इस मार्ग में ऐसी गवेषणा खोज नहीं की पूरा तप नहीं किया अनुशासन में नहीं रहे तो परिणाम यही निकलेगा और फिर भागेंगे बूढ़े वृद्ध हो गए धीरे धीरे व्यक्ति वृद्ध तो होगा ही आपने बहुत परिश्रम किया पढ़ा पढ़ाया भी और अब वो हो गया चालीस अड़तालीस वर्ष का अब एक तो बुढ़ापा दिख रहा है एक और आनंद नहीं मिल रहा वो कहेगा दुनिया ने तो खाया पिया सब मजे कर लिए मैं खाम का क्यों दुखी हूं चलो जैसे दुनिया चल रही है ऐसे जाके बन जाओ <laughs> अब कौन कौन करेंगे आप में जैसा कोई भी नहीं करेगा आज कड़ा करो जो नहीं करेंगे तो इस प्रतिज्ञा को याद रखोगे ऐसे कह दिया तो कह दिया एक व्यक्ति थे प्रयास करते रहे और घोषणा भी करते रहे मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा सामान्य अध्ययन कर दिया उसने और किसी गुरु के पास में सीखने की बात नहीं की किसी गुरु से विद्या तो सीखते अच्छा अध्ययन भी तो करते सामान्य रूप से प्रचार करते रहे सामान्य ज्ञान रहा विशिष्ट ज्ञान नहीं हो पाया कालांतर में होते होते ये हुआ वो धीरे धीरे इस स्थिति में रहते रहते मुझे कुछ याद है लगभग पता नहीं पचास या बावन वर्ष में चले और जब कुछ भी दिखाई नहीं दिया झट विवाह करवा जाना ये तमाशा उस विवाह विवाह कर ली और क्या करता हूं भाई दो ही धाराएं हैं या तो लौकिक सबको भोगता है इंद्रियों के भोग भोगता रहे दुनिया में यदि उसको छोड़ता है तो मेरे को आत्मा का आनंद मिलना चाहिए अर्थात परमात्मा का आनंद मिलना चाहिए अब वो उसको मिला नहीं तो वो दुखी होकर के वो फिर संसार की ओर भागता है उनकी दुर्गति होती है परिणाम बड़ा उल्टा सीधा विवाह कर करवाते समय उसमें ठीक ठीक परीक्षण नहीं किया जिससे लड़की से इसका संबंध होना था रंग रूप से ठीक है हो गया तो ठीक है विवाह हो गया <laughs> परिणाम आगे चल के उसके दो तीन लड़कियां उत्पन्न हो गई तो हम उनसे मिलते थे मिलते थे तो सारी बात सुनी क्या हुआ ये ऐसा हो गया था हो गया था तो क्या हुआ हुआ क्या कहने लगे स्वामी जी मैं बहुत भयंकर दुखी हूं और बड़ा भारी झंझट में पड़ गया क्या ये लड़की उस समय ठीक दिखती थी बाहर से कोई नहीं दिखता था अब विवाह हो गया ये दो या कितनी लड़कियां हैं इनको ये संभाल भी नहीं सकती दिमाग इसका खराब है पागल थी अब ये चक्कर अब वही उनका खिलाना पिलाना पढ़ाना लिखाना सारे कार्य वो बेचारी दिमाग से खराब वो क्या करती अब ये चक्कर आपको भी ऐसे बनाएगा अब जो करना हो जो कर लो समझ जाओ इनमें ननुनच नहीं है आप बच नहीं सकते नहीं बच सकते ये मुख्य धाराएं या तो व्यक्ति भोगवादी है संसार में दो तरह के भोग वाले होते हैं अनाप शनाप खाना पीना ये तो बड़ा अनुचित होता है ये नितांत दुष्ट लोगों का कार्य उल्टी चीज खाना अनाथना और एक उचित मात्रा में संसार की चीजों का भोग करना उचित भोजन खाना खान पान ठीक रखना ये अच्छे लोगों का खान पान है धार्मिक लोगों का है इसको लौकिक दृष्टि में बुरा नहीं माना जाता उचित खाना उचित पीना उचित मात्रा में प्रयोग करना दो धाराएं और एक दुष्ट लोग बुरा खाते हैं बुरा पीते हैं जो कुछ उल्टा सीधा परंतु इसमें आप अनुचित में नहीं जाएंगे तो बीच वाले में आएंगे आप उचित भोग करने की बात सोचेंगे भाई उचित खाओ पियो इसमें भी कुछ सुख मिल जाएगा पर याद रखना सुख तो मिलेगा उचित खाएं पिएंगे पर दुख रहित सुख नहीं मिलेगा पर इतनी बात तो निश्चित है यदि आध्यात्मिक आनंद नहीं मिला तो इसमें तो जरूर पड़ जाएंगे आप बीच वाले में यदि कम से कम नीचा तो नहीं जाएंगे नीचे नहीं उतरेंगे उल्टे सीधे पर बीच वाले में तो जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा आप बच नहीं सकते तो समण रखो कि जिस ईश्वर ने शक्ति बनाई और हमको शरीर दिया उसने सब कुछ बताया और कहा कि संसार के अंदर सामान्य सुख है दुख मिश्रित है वो क्षणिक भी है और ये जो मेरा आनंद है ईश्वर का जो आनंद है दुख रहित है आनंद क्षणिक नहीं है नित्य आनंद है और उसी के लिए मनुष्य जन्म मिला इसलिए ईश्वर का ऐश्वर्य अनंत आनंद है चौथी बात ईश्वर का ऐश्वर्य अनंत क्रिया क्रियाएं अनंत है ये चौथा ऐश्वर्य है कितनी क्रिया हो रही है संसार में कोई कल्पना कर सकता है विश्व में हमारे शरीर में हमारे मरने के पीछे ईश्वर किस किस को कहां भेजता है किस किस को क्या फल देता है किसको कहां जन्म देता है बिना क्रियाओं के तो कोई काम हो नहीं सकता जीव को फल नहीं दिया जा सकता जीव को इधर उधर भेजा नहीं जा सकता कितनी क्रियाएं करता है विद्या देता है ईश्वर सारी क्रियाओं को अंकित करता जानता है क्रियाओं की कोई सीमा नहीं तो इसलिए ईश्वर को इंद्र कहा सख्यत इंद्र के अंदर तेरी मित्रता में हम रहे तेरे मित्र बन जाएगा अनंत ऐसे त इंद्र वादी में वाद कहते बल को और वाद कहते विज्ञान को वाद कहते धन को वाद कहते अन्न को हम तेरी मित्रता में धनवान बन जाए बलवान बन जाए वैज्ञानिक बन जाए अन्नवान बन जाए तेरी मित्रता में आप जयामजी करते हो कुछ या नहीं करते खूब करते हो या कम करते या करते ही हम्म? कितना कितना व्यायाम कर लेते हो शरीर पर पसीना आता है व्यायाम करते समय या नहीं आता है जी सांस फूलता है या नहीं फूलता जिस समय आप बल की बात सोचेंगे ना ईश्वर में अनंत बल है अनंत आपको शरीर को बलवान बनाने के लिए कितना व्यायाम करना पड़ेगा बड़ा दुख होता है व्यायाम करते हैं होता नहीं होता शरीर दुखता है टूटता है जैसे पर कालांतर में वही शरीर अभ्यास करते करते जैसे व्यायाम करता जाता है और दर्द दूर होता जाता है क्या व्यायाम कल आपने 500 दंड बचे किए एक हजार किए आज फिर करने लगे याद रखना प्रारंभ में शरीर दुखता है या नहीं दुखता बताओ दर्द होता है और दर्द के कारण डर के व्यक्ति व्यायाम करना ही छोड़ देता है और व्यायाम आरंभ करता है वो धीरे धीरे धीरे धीरे आरंभ करते करते कालांतर में उसी काल में वो दर्द जो था कम होता चला जाता है जैसे व्यायाम करता चला जाता है दर्द कम होता चला जाता है नहीं होता और शरीर में पूरी गर्मी आती है ना जो पहले दर्द था शरीर में वो लेश मात्र दिखाई नहीं देता नहीं कभी जान करके देखा भी है नहीं देखा क्यों जी आप में व्यायाम करने वाले तो कम ही दिखाई देते हैं एक बार आंध्र प्रदेश में राज सिंह जी ब्रह्मचारी थे जगदीश जी थे वो थे विवेक भूषण जी थे <laughs> तो वहां वो अखाड़ा हजार बना रखा था मैंने कहा आप आप और हम आओ कुश्ती करेंगे मैंने सबको लुटका दिया उनको ये देख करके अब तो मेरा शरीर ऐसा हो वो हो गया ना अस्वस्थ होने से व्यायाम छूट गया मेरा वो छूटा था सत्तावन वर्ष की अवस्था में अब है ये तेहत्तरवा वर्ष चल रहा होगा और उस समय मैं इतने दंड बैठक करता था दौड़ करता था ब्रह्मचारियों को कुश्ती करवाता था फिर वो वायु का रोग होने से उसको बंद करना पड़ा व्यायाम तो खुद व्यायाम करने से बड़ा कष्ट होता है तप करना पड़ता है फिर शरीर इतना अच्छा बन जाता है आगे चल के लंबे काल तक व्यक्ति युवा जैसा जवान जैसा दिखाइए वही शक्ति सामर्थ्य आप यदि ऐसे व्यायाम नहीं करेंगे तो ऐसे शक्ति वाले आप नहीं बन सकते बलवान नहीं बन सकते सहन शक्ति नहीं आ सकती सवशस पचे सवशस कैसे बन को बलों के समान त इंद्र वाजिन माँ मा माँ में हे ईश्वर हम आपकी मित्रता में रहे डरे कभी नहीं किसी परमात्मा का जो मित्र बन जाता है वो सर्वथा भय रहित हो जाता है दूसरा व्यक्ति भय रहित नहीं हो पाता मात्रा घटती बढ़ती जाती है पर ईश्वर के साथ पूरा संबंध जुड़े बिना प्राप्ति के बिना ईश्वर साक्षात्कार के बिना उसकी परिपक्व अवस्था किए बिना कोई व्यक्ति डर से बच नहीं सकता मां भी हम डरे नहीं आपकी निश्चलता माम नुमा हम ऐसे ईश्वर को बार बार नमस्ते करते हैं स्वाम अभी प्रणो नुमा जे तारम जो सदा जीतने वाला है कभी न्याय इसका कोई भंग कर नहीं सकता ईश्वर अपराजितम कभी हारता नहीं ऐसे ईश्वर की खोज करो ईश्वर को जानो और फिर औरों को जनाओ आप परिश्रम करते हैं उचित तप करते हैं ईश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं अनुशासन में रहते हैं तो निश्चित बात है जो कुछ वेदों में लिखा और जो दर्शनों में लिखा, लिखा उपनिषदों में वो सब संपत्ति वो सब ऐश्वर्य आपको मिलेगा पर समझ रखना आजकल जो आप परिश्रम करते हैं ना ये बहुत कम परिश्रम है बहुत थोड़ा सा इतने परिश्रम से सिद्ध नहीं होगा आप ये जानते होंगे या सोचते होंगे हम बहुत परिश्रम करते हैं हम बहुत परिश्रम करते हैं शारीरिक क्या परिश्रम करते हैं आप क्या वाकई थोड़ा व्यायाम कर लिया होगा बौद्धिक क्या परिश्रम करते हैं आप वृत्तियों को रोकने के लिए क्या परिश्रम करते हैं आप समाधि लगाने के लिए यम नियम के पालन में आप क्या परिश्रम करते हैं सहन शक्ति आपकी कितनी है अच्छा ये बताओ मान अपमान से डरते हैं या नहीं आप अपमान से डरते हैं या नहीं बोला करो मान की इच्छा करते हैं या नहीं अच्छा जो नहीं करते हो मान की इच्छा वो बताओ कौन कौन अच्छा जो करते हैं वही बताओ हाथ खड़ा करो जो मान की इच्छा करते हैं और आप नहीं करते इतना स्तर आपने बनाया तो उन्होंने परिश्रम किया होगा बहुत परिश्रम करना पड़ेगा जबकि आप मान की इच्छा नहीं करें कई बार सम्मान की इच्छा तो व्यक्ति नहीं करता पर अपमान की इच्छा भी नहीं करता हूं अपमान भी नहीं चाहता हूं क्या समझे आप हाँ जी माताएं बोलेंगी ऐसा होता नहीं होता सम्मान की इच्छा तो छोड़ दीजिए थे पर अपमान भी नहीं चाहता वो है हाँ का इच्छुक नहीं है यद्यपि उसने यहां तक प्रयास किया कि सम्मान को नहीं चाहता पर अपमान को भी नहीं चाहता और कई बार सोचता है भाई न्याय की बात है मैं इतना विद्वान हूं इतना धनवान हूं इतना सम्मान तो कम से कम मिलना ही चाहिए इस चक्कर में रह जाता कम से कम इतना तो कहना ही भाई विद्वान तो हूं ही न्याय की बात है विद्वान तो मुझे मानना ही चाहिए ऐसा होता नहीं होता या नहीं होगा ऐसा ही होगा आप करके देखो और जब तक ये रहेगा सम्मान की इच्छा रहेगी अपमान की अनिच्छा तब तक आप वैराग्यवान होकर समाधि को प्राप्त नहीं कर सकते अब विराम आदरणीय विद्वतगण उपस्थित सज्जनों माता आज आपके समक्ष एक भाग में ये बात सुनाई जाएगी कि हमने उन दो दिनों में वहां पर क्या कुछ देखा उससे हम बहुत कुछ जान सकते हैं और अपने जीवन के निर्माण में और समाज राष्ट्र के उत्थान में बहुत कुछ कर सकते हैं इसलिए जानना चाहिए प्रारंभ होता है इस संस्था का एक व्यक्ति ये हैदराबाद में रहते थे सामान्य व्यापार का इनका अपना व्यवसाय था व्यवसाय कर इनका नाम है इन्होंने दादा लेखराज रखे उस व्यापार को करते करते कार्यक्रम चला रहे थे ये घटना कहीं लेखबद्ध हुई होगी या इनके चरित्र में लिखी गई होगी एक व्यक्ति ने सुनाई कि बात ऐसी कि ये इन्होंने मोड़ कैसे खाया व्यापारी थे साधारण व्यापार के चलने वाले थे तो उन्होंने बताया इनकी पुत्री का किसी से विवाह हो गया और उसने उसको छोड़ दिया अब समझाने पर भी नहीं माना तो बताया गया कि इन्होंने एक योजना बनाई इन लड़कियों की इतनी दुर्गति है ऐसी स्थिति है तो मैं इसके विपरीत ऐसा कार्य करके दिखाऊंगा जिसको ये आपत्ति दूर हो तो इन्होंने कन्याओं को अपने साथ संबद्ध किया योजना बनाई और चल पड़े इस कार्य को करते करते करते करते ये उस व्यक्ति की बात सुना रहा हूं जो साधारण व्यापारी थे गृहस्थ थे और उसका यदि आप आज कार्यक्रम देखते या देख ले तो उसमें कई स्थितियां मन में उत्पन्न होंगी एक तो ये स्थिति उत्पन्न हो जाए कि उस सारे उनके व्यवसाय को तो व्यापार को देखने आश्रम में एक अवस्था में आप उन्हीं के बन जाएंगे और जीवन भर उन्हीं के रहेंगे समर्पित हो जाएंगे ये और देखना हो तो उनके कथनानुसार एक हजार दो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी यहीं पर उपस्थित हैं जो आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा व्रत लेकर चलते हैं और उनकी योग्यता जैसे इन्होंने बताई लगभग बारह कक्षा की तो होती ही है और वो सूर्य के पूरे सर्वस्व समर्पित करके चला रहे और आगे इन्होंने बतलाया जैसा इनके कथनानुसार इनकी पांच हजार शाखाएं चलती है देश विदेश उन पांच हजार शाखाओं में हो सकता है लगभग जैसे चार या पांच लाख इनके साथ आपत इनके इनकी संगति करने रखने वाले इनके साथ संबद्ध होकर कार्य करने वाले इनकी गतिविधि का प्रचार करने वाले इतने व्यक्ति संपर्क फिर इन्होंने बतलाया लगभग बीस हजार आजीवन ब्रह्मचारी अथवा कुमार रहने वाले कुमार कुमारी इनके सारे मिलाकर के इतने समर्पित जीवन है अब व्यक्ति ने ये थोड़ी सी बात ली थी उससे एक तो ये बात ज्ञात हुई एक साधारण व्यक्ति भी ऐसी योजना बना सकता है ऐसी योजना बना करके लाखों लोगों को अपने साथ ले सकता है अब एक पढ़ा लिखा बुद्धिमान व्यक्ति विद्वान व्यक्ति कितने को कर सकता है जिससे आप पता लगा उन्हीं का हो जाना वहां जाने पर उन्हीं में मिल जाना अब जो आता है वो उसी को पता लेते इतना ही नहीं हम जैसे व्यक्ति वहां जाने औरों की बात छोड़ो वो ऐसा व्यवहार करते हैं याद रखें इतना प्रेम से बर्ताव करते हैं ऐसे ढंग से बात करते हैं इतनी सेवा करते हैं वो उस अच्छी योग्यता वाले की भी इच्छा होने लग जाए कि मैं इन्हीं के साथ आपद्ध क्यों न हो जाऊं और यहां पर एक व्यक्ति थोड़े की तरफ बाड़ी को बोलता ना सेवा भाव दो जनों के मिलकर रहने नहीं देता ये अपनी स्थिति बनी गई बताओ ये कैसे तुलना में इनके समान आगे खड़ा हो सकता है ये सीखो और समझो तो इतना बड़ा आयोजन एक भवन जो सत्संग भवन है समन रखना इनके कथनानुसार इतना विशाल है कि पच्चीस हजार व्यक्ति कुर्सी लगाई हुई है उसमें बैठ के सत्संग कर सकते हैं पंद्रह मान लो अतिशयोक्ति हो जाए कहीं तो दस हजार पंद्रह हजार बीस हजार इतने मान लो इनमें विकल्प छोड़ दो तो भी और उन्होंने जैसा बताया एक ही आम ये का पत्थर एक से एक पढ़ करके उनका केंद्र बना हुआ है प्रातः काल आजकल वर्षा काल में कम रहते हैं लोग जो कि उनकी जो प्रमुख एक माता जी थी उसने उपदेश दिया और उसमें स्त्री पुरुष बैठे थे अब ये दूसरी बात लेना किसी को ये कहने की आवश्यकता नहीं है तू मत बोल वो थे हो सकता है वह सात सौ हो आठ सौ हो इत्यादि और वो साधारण बात है कि मन वचन कर्म से अच्छे काम करो पवित्रता रखो सेवा भाव रखो बस ऐसी बात तो सुना रही थी कोई दार्शनिक बात हो कोई आत्मा परमात्मा का विवेचन हो कोई वैज्ञानिक बात हो कुछ भी तो नहीं साधारण बातें जैसे व्यवहार में होती है और वो सब तल्लीन होकर सुन रहे हैं लेख लीजिए लिख रहे हैं अब यहां तो इतने लोग बैठ जाए तो छह आठ जने तो उनको कह, ये कहने वाले खड़े होंगे भाइयों सुनो माताओं सुनो मत बोलो अब बताओ कहां तुलना करें कभी देखा होगा आपने जो बड़े बड़े सत्संग चलते हैं ना ना एकाध जगह को छोड़ दो तो एडी से चोटी का जोर लगाइए तब भी ये बोलने से बंद नहीं होते और उनमें एक भी व्यक्ति तो ऐसे बात करता दिखाई नहीं देता कितना प्रेम से कितनी अपनी श्रद्धा से सुन रहे होंगे लिख रहे होंगे और कितना अच्छा प्रबंध है वहां बैठने का सुनने का लाउड स्पीकर आदि का कितना धन संपत्ति वहां पर खर्च हुआ इनके अलग अलग विभागों में चलिए भोजन की व्यवस्था देखो भोजन अपने आप बनाते हैं कितने युवक कितनी माताएं कितनी लड़कियां उनके मन में क्या रखा है क्या सिखाया गया जो शुद्ध आचार विचार का व्यक्ति है उसी से भोजन बनवाना है और सफाई शुद्धि इतनी अधिक है और यंत्र तो आजकल है उन्होंने बताया डेढ़ घंटे में लगभग कितने हजार व्यक्तियों का मुझे याद नहीं भोजन तैयार हो जाता और उनके अलग अलग कार्यकर्ता पठित वर्ग में से आधुनिक कोई बैंक में काम करने वाला है कोई और कहीं वो तो अपना अलग करते ही करते हैं उनके यहां जाके इतने घंटे निष्काम भावना से वो सेवा करके आएगा अपने आप और अपने कार्य जन्म करता रहेगा ये जो माता ईश्वरी देवी जी है इनके भाई की पुत्री है प्रीति उसका नाम है डॉक्टर की उपाधि आदि प्राप्त की है हैं? दूसरी का मुझ चर्चा नहीं चला रहा वो कहां पर क्या करती है अब कितना प्रयास किया है उनको समझाने के लिए मैंने भी प्रयास किया तपोवन परंतु वो सब कुछ को छोड़ के सारा जीवन वहीं समर्पित कर दिया और रोगियों की सेवा में कितने घंटे लगाती है वो अब बुद्धिमती है इतना इन कई कारण हैं जो इनको युवकों को अपने अंदर खींच लेते ऐसे ऐसे हमने देखे उन्होंने बताया हमने आर्य समाज के मेरे पिताजी आर्य समाजी थे और मैं उनके अनुशासन में रहता था कोई खान पान गलत नहीं होने देते थे और एक एक बात को पूछते थे अब वो व्यक्ति सेवानिवृत्त होकर के वहां 20 दिन से रह रहा है कितना और वह कहता है मैं तो यहां पर सब कुछ देखता हूं कृत कृत्य हो गया हूं और हाँ, वो कहता मुझ में तो कई गड़बड़ हो सकती है मेरे मन में पर इन लोगों के मन में मुझे कोई बुराई नहीं दिखती अब ऐसा व्यवहार इतने लोग करते हैं हजारों लोग यद्यपि ये बात अलग है गुप्त रूप में बुराई का होना ओट में होना इत्यादि को हटा दीजिए बाहर के हाव भाव को देखो लेन देन को देखो उनके आहार विहार को देखो उस व्यक्ति पर यही प्रभाव तो पड़ रहा है वो कहता है साठ के थे या सत्तर के थे मुझे याद नहीं और उस परिवार को छोड़ अरे समाज की परंपरा को छोड़ के यहां आबद्ध हो रहे हैं और हम कहते हैं हमारे विद्यालय में आओ कहते हैं कि अब तो मेरी कहीं जाने की इच्छा है जो पाना था जो पा लिया ये ऐसी स्थिति किसने उत्पन्न की इनके व्यवहार ने उत्पन्न की है इन दोनों की इनकी सेवाएं ऐसी इनका प्रेम इतना अधिक है एक बात है एक माता सामान्य माता है आज जो इनकी अध्यक्षा है कोई बहुत विदुषी हो तो उनको अलग से मिलना पड़ता है बुलाना पड़ता है प्रीति ने प्रयास किया प्रीति थी तो ये सारी बातें हमारी सुविधाजनक हो गई नहीं तो होना कठिन है तो वो आई हमारे लिए समय दिया बहुत बातें कुछ सुनाई कुछ सुनी अब उसका अनुशासन देखो कितना अनुशासन होगा कल्पना कीजिए कितना पठित वर्ग होगा माताओं और पुरुषों का और उसमें आप याद रखेंगे वो है अनुशासन संगठन अपने यहां तो ये ब्रह्मचारी पढ़ते हैं ना इनमें से दो एक हमारे साथ मिलकर रहना नहीं चाहते संगठन की बात ही खत्म है ही यहां से पढ़ते लिखते हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं अनुशासन नाम की चीज इनके पास में नहीं है स्वतंत्र घूमते स्वतंत्र करते स्वतंत्र रहते आजादी मन में आ गई दो भी ब्रह्मचारी अच्छे प्रकार से संबद्ध होके मिलके हमारे साथ रहना नहीं चाहते अनुशासनहीनता इतनी भयंकर कोई अनुशासन नाम की चीज नहीं और वहां पर देखो एक सामान्य माता अपने व्यवहार और अपने सामान्य निर्देश एक उनकी और जो बड़ी अध्यक्षानी जी की वचन को प्रमाण मानते हैं वो है दिल्ली और वो समय समय पर ध्यान अवस्थित होती चिंता करती और दादा लेखराज जी जी थे इनके संस्थापक उनके जीवन में ईश्वर अवतरित हुआ था आता था और इनको वो संदेश देता था और ये लोगों को सुनाते थे इसको ये प्रामाणिक मान के चलते थे और जो वो सुनाते थे वह वो नहीं बोलते थे वो ईश्वर ही बोलता था उसमें आकर के ईश्वर इनका परम धाम में रहता है उसको किसी ने देखा किसी ने जाना उन्होंने कहा हमारे अंदर जो प्रसिद्ध बहने हैं या पुरुष सिद्ध हैं वो जानते हैं उसको वो परम धाम कहां है और वो वहां जाते हैं और ईश्वर से मिलते हैं वो देख के आते हैं कि ईश्वर यहां रहता और नहीं जानते अब इनकी जो माता जी आजकल जो है दिल्ली में वो ध्यान अवस्थित होती अब उनमें ईश्वर का संदेश आता है और वो वहां से संदेश भेजती है ये ये योजना बनाए न बनाए ये ये विशाल भवन इतना सत्संग भवन बनाए ये चिकित्सालय खोलें आदि न खोलें इत्यादि ये तो भवन निर्माण करें न करें इत्यादि कहते हैं वहां से संदेश आते रहते और वहां से संदेश आते हैं उसके आधार पर सारा ये अनुशासन सारी व्यवस्था चलती है अब वो कोई दार्शनिक ऐसी विदुषी हो और ऐसा कोई वेदों की हो कोई विज्ञान की कुछ नहीं अब इनका अनुशासन के आधार पर केवल इनका उन बातों पर विश्वास है उनको मान के चलते अब इतना बड़ा देश विदेश में इन्होंने कितना विशाल कार्यक्रम कर डाला और कितने संप्रदायों के लोग इनसे प्रभावित हैं इनके आयोजन में कितने लोग आते हैं वो जो माता जी हैं नाम मुझे याद क्या है जिसने को क्या बोलते हैं क्यों क्या बोलते हैं ये बोलते हैं ना पुरस्कार के रूप में क्या बोलते हैं क्या नाम उसका किसी ने सोने का दिया किसी ने कुछ दिया पुरस्कार के रूप में वो हम गए थे भवन में वो रखे थे ना उनसे कितने से कितने सो उनको मिले होंगे वो कमरा इतना भरा हुआ बताते ये तो थोड़े से है उनमें उस माता जी को वैज्ञानिक वैज्ञानिकों के विषय में मिलने और बहुत कुछ बताई उन्होंने बातें और वो कुछ रुचि लेते हैं उनसे हम आबद्ध हो गए हैं डॉक्टर वैज्ञानिकों तो इनके इतने कार्यक्रम को देखने के पश्चात व्यक्ति में कई प्रभाव हो सकते हैं एक प्रभाव होगा कि उन्हीं में जाके मिलके रहना बस यही सुख है स्वर्गमय जीवन है ये इधर उधर जाना ही दूसरी बात दूसरी बात इनमें तो नहीं जाना पर वो आकाश निराश हो जाए हमारा तो एक केवल नाम मात्र के हम व्यक्ति हैं नाम मात्र का हमारा कार्य क्या कर सकते हैं हम <laughs> वह हताश निराश होकर के सब कुछ छोड़ बैठे व्यक्ति ये स्थिति भी उत्पन्न हो सकती तीसरी इस कार्यक्रम को देखा यद्यपि इनमें बहुत से जो गुण हैं उनको हमने देखा जैसे ब्रह्मचारी रहने का गुण है इसको बहुत महत्व देते हैं कुमार कुमारियां आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे जैसे इन्होंने बीस लाख कितने सारे मिला के बताए लगभग ये एक प्रवाह इन्होंने बहा रखा है पठित वर्ग को लेते हैं और उसमें ये भाव बढ़ते हैं उसमें ये प्रतिज्ञा लेके चलते हैं और ये ब्रह्मचर्य के विषय में बहुत बड़ा गुण है ये यद्यपि वेदों और दर्शनों की बात है कोई बाहर की नहीं पर वो गुण है कौन कितना है मन वचन कर्म की अलग बात है पर है जरूर ऐसा ऐसा नहीं होता और दूसरी बात आप देखेंगे दूसरी बात इनके अंदर कर्मठता की है कर्मठता कितनी है कुमार हो कुमारी हो कोई बड़े से बड़ा पढ़ाने का व्यक्ति क्यों न हो आप जो यहां है ना दो रोटी बना के नहीं खा पाएंगे खाएंगे तो आप भाग जाएंगे जाते इतना काम करते हैं भोजन आदि के निर्माण में इतना परिश्रम करते किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे किसी किसी व्यक्ति को व्यवहार के व्यक्ति को कोई काम नहीं है कि पाकशाला में जाए या कुछ बनाए कोई मतलब नहीं अब यहाँ अपने ब्रह्मचारी यदि रोटी बना के खाने लग जाए तो इनमें से आप एक भी नहीं टके से आप या टक जाएगा भाग जाएंगे लगभग यहां रोटी बनाने के लिए थोड़े ऐसे रोटी बनाते तो अपने घर पर रहते कुछ भी तुलना नहीं है यहाँ के ब्रह्मचारियों की सेवा के थोड़ा मोटा कुछ काम करना पड़ जाए तो उसी को वो रोड़ा मान के चलते एक आध प्रबंध करता रहे आचार्य करता रहे वो अपने पढ़े रहे और पढ़ दिया पढ़े रहे आया तो कोई नहीं करोड़ा रोड़ा का ही आ गया कोई पत्र लिखना है कोई सेवा वहां से कुछ आना है कुछ यहाँ किसी को रोगी की सेवा करनी है क्योंकि ये पर, ये पहाड़ कहां से आ पड़ा है मुझे सेवा करनी पड़े ये भयंकर रोग सेवा भाव का अभाव विघटन उत्पन्न करता आकर्षण नहीं विकर्षण उत्पन्न करता हमको प्रभावित करने के लिए अपनी ओर लाने के लिए उनके जो होते हैं शिक्षक वर्ग अध्यापक वर्ग उपदेशक वर्ग एक एक व्यक्ति पूरा समय लगाता और अपनी बात को इतने सुंदर ढंग से कहता है यदि हम बीच में प्रश्न उठाएं तो घंटा आध पौन घंटा बड़ा अच्छा प्रवचन करेगा वो यदि बीच में हम टोक दे कुछ पूछ लें तो उसको कुछ बाधा पड़ सकती है नहीं तो ऐसा ऐसा प्रेम से उपदेश एक एक बात और ये दिखाएगा कि मैंने ऐसा ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया मत कृत्य हो गया ऐसा तो संसार में कोई संगठन नहीं है जैसा ये हमारा है ऐसा प्रभाव हमारे साथ जब बातचीत होती थी या होती रही अनेक लोग आते थे और वो समझाने का प्रयास करते थे जहां बात उनके समझ में नहीं आती थी खड़े हो जाते थे वहां पर कहते थे ये मतभेद तो अपना अपना चलता रहेगा ये कोई नई बात नहीं विचारधाराएं हैं लोगों की उनकी अपनी विचारधाराएं हैं इनका कोई अंत थोड़ा ही है और हम बात करते थे इस ढंग से प्रयास करते थे हम खंडन करने के लिए बात नहीं करते जिस समय ये बात कही गई कि दादा लेखराज के शरीर में ईश्वर का अवतार आता था वो बोलते थे उनकी होते तो हम ऐसी चर्चा में क्या कहते थे वेदों में तो ऐसे अवतार लेके आता है ईश्वर एक देश में ईश्वर रहता है ऐसा नहीं माना जाता वो तो सर्वव्यापक माना जाता है ऐसे तो ईश्वर जो है आना आपके विचारों में आपके लोगों में है ही तो इसको वो सुनते थे और कई बार कह देते थे देखो ये तो अनुभव की बातें थी पुस्तकों से इनको नहीं सुलझाया जा सकता ये तो अनुभव से सुलझती है बात पुस्तकों से नहीं सुलझाया जा सकता ऐसी स्थिति में हम क्या कहते मैंने कहा कि जैसा दादा लेखराज जी परमात्मा का उपदेश सुनते आपको बताते थे परंतु ये वेदों का जिसको वेदों की रचना की ईश्वर ने दिया वो ऋषि लोग विधो तो परमात्मा की बात सुनते थे उन्होंने वेदों को सुना तो वो भी परमात्मा का उपदेश है तो उसको क्यों नहीं माना जाए इनकी बात तो मानी जाए दादा लेखराज जी की और ऋषियों की बात नहीं मानी जाए इसका कोई उनके पास उत्तर नहीं है मानो या तो वेदों का ज्ञान ईश्वर ने दिया और वेदों का ज्ञान ऋषि की आत्मा में दिया उनकी बात को नहीं माना जाए आपके गुरु जी की बात को माना जाए ये तो कोई बात नहीं जैसे आप इनकी मानते थे वेदों की भी माननी चाहिए वेदों में जो बात आई ईश्वर सर्वव्यापक है उसको क्यों नहीं माना जाए ऐसी स्थिति में वो चुप रहने की स्थिति में आते थे या दूसरे ढंग से बात करते एक व्यक्ति हमारे पास थे समझाने वाले कई बात गहरी या दर्शन आदि की आती थी तो उन्होंने अनुभव किया होगा कि कोई अधिक योग्य व्यक्ति इनको समझाने के लिए बुलाया जाए तो एक बहन जी आई जो ऊंचा स्तर रखती होगी उसको हमको समझाने के लिए तो वो अपनी बात समझाने लगी और समझाते समझाते भी आ, अपने सिद्धांत को समझाती हुई वो हमारे जो वैदिक सिद्धांत है उनका खंडन हो जाता है उनसे ऐसी बात कहती जैसे ईश्वर परम धाम मरे का है आनंद स्वरूप है क्योंकि यह सब जगह ईश्वर आनंद स्वरूप होता तो सब आनंदित तो होनी चाहिए थे ऐसे बीच में बताना ये लोग जो बुरे काम करते हैं दूसरा दूसरे को मार रहे आज इनको ईश्वर क्यों नहीं रोकता ही सर्वोत्तर होता तो इस रूप में वैदिक सिद्धांतों का खंडन आ जाता है उनके कहने में आता है पर उसमें क्या रहा कि मैंने उनकी बात को बीच में रोक रोक के चलाने की योजना बनाई वो प्रभाव चले अच्छा प्रभाव पड़े संतोष देने का हमारा अवसर ये चाहती हूं तो मैंने इस रूप में उनसे पूछना पूछने का प्रयास किया कि आप ये कहते हैं कि परमात्मा सर्वत्र व्यापक है तो इन बुरे लोगों को क्यों नहीं का जाती अलग यदि होता तो उन्हें नहीं देखा तो मैंने कहा कि जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है फल भोगने में स्वतंत्र है इसलिए ईश्वर रोकने लग जाए तो कोई भी व्यक्ति कुछ बुरा काम नहीं कर सकता और आप भी तो ईश्वर को सर्व शक्तिमान सर्वज्ञ मानती हो आपका ईश्वर वहां बैठा बैठा क्यों नहीं रोकता क्या समझ में न्याय बात तो वहीं पकड़ी जाए ना जहां से अपनी पुष्टि करना चाहता है जैसा आपने ये आक्षेप किया ये आक्षेप तो आपके ऊपर भी तो आ गया क्या समझे आप न्याय समझ में एवं गाड़ी अब मैंने कहा यदि वो यहां वाले लोगों को रोकता तो स्वतंत्रता नहीं रहती पर आप आप भी तो ईश्वर को सर्वशक्तिमान समझे वहां बैठे बैठा क्यों नहीं रोकता अब वो जो होती है बेचारी फिर उनका हाव भाव बदलने लगता है कुछ घबराहट भी आती है बड़ा कठिनाई पड़ने लग जाती है ना तो बीच बीच में हम कहते देखो मेरा अपना स्वभाव है हम दर्शना जी के पढ़ने वाले आप बुरा मत मानना हाँ बुरा मानने की बात मत सोचना और नहीं मेरा उद्देश्य है कोई तो आप ये बताइए वहां भी तो दोष आ गया वहां क्यों नहीं रोकता वो उन्होंने अपनी बात को समझाने के लिए कहा ही यदि सर्वत्र होता आनंद स्वरूप होता तो सबको आनंद मिलता अग्नि है लोहे के गोले में व्यापक सारे को गर्म बना देती है अग्नि और वो तो आग अपना काम करती है कहीं भी आग हो तो आनंद स्वरूप होता तो सब आनंदित हो जाते अग्नि जहां जाती है वहीं उष्णता मैंने कहा ये तो जड़ पदार्थ का दृष्टांत है जड़ पदार्थ का अपने गुण पर अपना अधिकार नहीं होता समझ रहे हो उंग रहे हो है जल पदार्थ है जल है वो डबोएगा कोई आए अग्नि जलाएगी उसका माप ढूंढना मापना किसको ठंडा करूं किसको गर्म करूं ये भूतों में ये गुण होता नहीं महंगा चेतन का दृष्टांत आपने तो भौतिक जड़ का दृष्टांत दिया परमात्मा तो चेतन है वो चेतन अपने ज्ञान पर आनंद पर अधिकार रखता है पात्र को देता है पात्र को नहीं देता आप भी तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को पात्रों को देते हैं पात्र को कैसे दे देते हैं अब वो बेचारी घबराहट के रूप में आती है हाव भाव से पता चल जाता है कि कैसे हाव भाव बदलते हैं उसके कहा जाए वो क्या कहे मैंने कहा आप फिर कुमार पे मामा कुमारी को आप पात्र को तो नहीं लेते चाहे इसको ले लो अब ये दृष्टांत मिलता है उससे ईश्वर पात्र को तो देगा इसको आप पात्र को लेते हैं पात्र को तो आप भी नहीं देते बड़ी ठीक संगत बात है अब वो बेचारी क्या करूं कहां जाऊं मतलब हाव भाव उसके बदलने लग गए वो क्या उपदेश दे हमको जहां से उपदेश आता है वहीं से हम बात को पकड़ते मैंने कहा आपने आपकी मान्यता है जीव भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और आप ये मानते हैं कुत्ता मर गया तो कुत्ता ही योनी मिलेगी यदि गधा मर गया तो गधा ही योनी मिलेगी और कोई गऊ मृगी लोग तो आप जीवन कुछ भेद मानते हैं क्या ऐसा आपकी मान्यता है उन्होंने कहा हाँ जीवन भेद है उनके साथ भेद कुछ चीजें जुड़ मिल जाती हैं और संस्कार हैं कुसंस्कार हैं वो जुड़ जाते हैं वो जुड़ जाते हैं तो ए, उसी गधे घोड़े के संस्कार से ना बीज से बीज उत्पन्न होता है आम की गुठली से आम की जामुन की से जामुन नींबू से नींबू ऐसे उनके एक बीज से दूसरा बीज बीज जैसा होता है मैंने कहा आप आत्मा परमात्मा प्रकृति को नादी मानते हैं ये उत्पन्न तो होते नहीं जी क्या समझे आप वो भी अनादि मानते हैं अनादि मानते हैं अनंत मानते हैं तो आप ये बताइए ये जो चीज उत्पन्न ही नहीं होती उसका बीज कैसा आप बताओ उनका बीज कैसे नहीं उनके साथ जो चीज जुड़ जाती है ना संस्कारों से बुरे संस्कारों से वही बीज का रूप है मैंने कहा वो तो नैमित्तिक है संस्कार आ जाते हैं उसके हट जाने को वही जीवात्मा का जीवात्मा रहेगा आए हैं कहीं से वो बीज तो नहीं हुआ आत्मा का बीज तो हो ही नहीं सकता बीज नहीं हो सकता अब इनका यह सिद्धांत कट गया यहां से अलग अलग आत्मा का जो सिद्धांत था बीज नहीं हो सकता आत्मा का संस्कारों को बीज मानते हैं तो इनको हटाया जा सकता है नैमित्तिक है हटा दो तो वही आत्मा का आत्मा और नहीं तो अनादि आप भी मानते हैं अनादि का बीज कैसे होगा अनादि का बीज नहीं होगा अब यह सिद्धांत कट गया अलग अलग आत्मा मानना सिद्धांत गलत है बड़ी मुश्किल होगी इसके तो समझाने के लिए तो आई थी बेचारी और उनके योग्य समझ के भेजा था अब एक एक एक बात कटती जाती है उनका होश जो वाज बेचारी का थोड़ा सा फीका पड़ता जाता है तो हमें बीच में तैयारी तो बनाना चाहिए कभी ये न सोचे खंडन करने के लिए आए होंगे अब वो अपनी मान्यताओं में बात रखती है कि ईश्वर वहां बैठा हुआ तुम एक देश में मानते हो सारे काम कैसे कर देता है वो सर्वज्ञ कैसे है कहते वो तो ईश्वर है हमारे जैसा थोड़ा ही ईश्वर होने की वो सर्वज्ञ है जीव जैसा थोड़ा ही मैंने कहा देखो मान्यता अपनी बनाना तो सिद्धांत को सिद्ध नहीं करता पर हमारे सामने अनुमान प्रमाण के पांच ओय होते प्रतिज्ञा हेतु आदि मैंने कहा उनसे किसी को कोई बात समझानी हो तो पांच बात तो कहनी पड़ती है कहने से काम नहीं चलता मैंने कहा देखो हमने अग्नि सिद्ध करनी हो इस पहाड़ में अग्नि है क्योंकि धुआं है जहां धुआं होता अग्नि होती है जहां जहां धुआं होता अग्नि होती है इसलिए इसमें अग्नि है आप भी पांच बात बताइए कि जिससे कि ये सिद्ध हो जाए एक जगह बैठा हो अभी सर्वज्ञ होता है कोई दृष्टांत तो दो आप हेतु क्या है वो ईश्वर होने से सर्वज्ञ मैंने मतलब ईश्वर होने से प्रतिज्ञा है पांच बात तो कहनी पड़ेगी अब वो पांच बात कह समझा नहीं सकती कि ईश्वर सर्वज्ञ है कैसे हो एक देश में रह करके सर्वज्ञ कैसे होगा पांचों ये बोलो मुझे तो ऐसा कोई भी नहीं मिला जो एक देश में सर्वज्ञ हो हेतु नहीं वो कहती जो ईश्वर होने से है ईश्वर है वो तो ईश्वर हमारे देश है मैं कभी दृष्टांत तो देना पड़ेगा अब वहां पर ये बात आ गई तो ये ऐसा चलता रहा कार्यक्रम और अंत में कभी उनको बुरा नहीं लगे कभी मन में ये बात नहीं आई मैंने कहा देखो हम तो ये सत्य सत्य के जानने के लिए सारा विवेचन करते और जो सत्य ठहरता मैंने कहा हम मानने के लिए तैयार है अंत में मैंने ऐसी बातें कही मैंने कहा कोई आग्रह नहीं हमारा साथ कुछ भी नहीं है हमारे आप कोई बात कैसे कर दो तो मान किसी को आना या किसी के वाद विवाद मैंने अंत में थोड़ा सा ऐसा वातावरण बनाया जिससे उसके ऊपर अंत में कुछ तो कह ये व्यक्ति भी तो कोई सत्यग्राही है इसलिए हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं ये आपकी जो यहाँ अच्छी बातें हम उनको अच्छा मानते हैं तो ये संवाद में कैसे बोलते हैं एक व्यक्ति नहीं एक और दूसरा व्यक्ति आया उसने कहा मैं आर्य समाज में उत्तर प्रदेश में मैंने पहले 18 वर्ष की अवस्था में मैंने यहाँ समर्पित कर दिया जीवन मैंने ये भी पढ़ा आर्य समाज के ढंग से मैंने खोद कुछ जाना और आर्य समाज के लोगों में वो बातें आ जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए वो झगड़े की वो वाद विवाद की और उन्होंने उन्होंने कुछ बहुत कुछ व्यवहारिक बातें कही बहुत सी बातें थी और उसने ये स्वीकार किया उस व्यक्ति ने कि मैंने कहा इनका कौन सा ग्रंथ है जो संविधान के रूप में जिसे आधार बनाते हैं कहते ये पढ़े लिखे विद्वानों का मत नहीं है जो कि वो समर्पित है वो व्यक्ति वेद जी बात कोई ऐसा ग्रंथ इनका हो ऐसी बात नहीं है ये सामान्य व्यक्ति सामान्य स्तर के व्यक्ति है और मैंने कहा वेद में सर्वजाप क्या उनका ये ठीक है वो वेदों की बात जो है सब ठीक है जैसे वो मानता हुई इनसे बोल रहा था वो बिल्कुल ठीक है मैंने कहा वेदों में तो अवतार माना ही नहीं आर्य समाज के उनका मैंने दर्शन आदि पढ़े ये पढ़ा वो पढ़ा सत्या प्रकाश का भी नाम लिया और फिर उन्होंने अपना प्रभाव एक बात पे कि दादा लेखनाथ का प्रभाव अठारह वर्ष की अवस्था में कैसा विचित्र पड़ा था उसका वर्णन किया मैंने उससे मैं प्रभावित होकर के और उसकी विचित्रता देख करके मैं ऐसा बना जबकि वो वैदिक विचारधारा को समझना है समझता है ऐसा दिखता है और सारी बातें इन्होंने पढ़ी हैं ऐसी दिखती हैं बहुत कुछ उसने किया तो ये कितनी बातें ऐसी हैं उनको बताते रहो बहुत कुछ समझ लगाया जा सकता है एक एक बात को देखते जाओ एक एक व्यवस्था को देखते जाओ कंप्यूटर वहां लगा हुआ था हमने कुछ हमारे चित्त की एकाग्रता की बात भी आई कई विकल्प थे चित्त के ऊपर बिल्कुल रोको इत्यादि फिर किसी विषय में लगाओ एकाग्रता भाई इसमें चित्र उठा उतारो तो उसने एकाग्रता का चित्र ऐसा दिया था कि इसमें अच्छी स्थिति नहीं एकाग्रता वाला चित्र था ना अर्थात जिसमें हम ईश्वर के गुणों का वर्णन करते एकाग्रता वाला उसमें पता नहीं शरीर पर प्रभाव पड़ता है हम बला रोक देते हैं मन को उसके अंदर बल लगता हो संभावना बल के कारण से उसके अंदर प्रभाव पड़ता हो ऐसी संभावना और परीक्षण करने योग्य तो नहीं समझे आप मन को एकाग्र करके उसमें कंप्यूटर में वो एकाग्रता की गगन एकाग्रता को बताता है जनसरता को बताता है अस्थिरता को बताता है नहीं समझे आप कंप्यूटर उसमें रेखा आती है लाल रेखा तो वो भी परीक्षण थोड़ा सा करने का मिला आगे और करेंगे ये अलग अलग विभाग बना दिया मैंने कहा मैं आपकी इस मशीन का परीक्षण करूंगा ये ठीक है या नहीं वो तो कंप्यूटर वाला अलग विभाग है इतने विभाग है वैज्ञानिक विभाग इतने विभाग है तो ये इतना मैंने सुनाया अब आपको क्या क्या समझ में आया जो उनके गुण हैं वो हमको लेने चाहिए और कैसे कैसे हम उनसे प्रभावित होते हैं या हो सकते हैं वो भी जानना चाहिए और एक साधारण व्यक्ति क्या से क्या कर देता है इतने लाखों लोगों को अपने संपर्क में लाना और बुद्धिजीवी भरत सबको प्रभावित कर डाला तो एक व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति बुद्धिमान दर्शनों का विद्वान कितना काम कर सकता है कितना प्रभाव डाल सकता है कल्पना नहीं कर सकता संगठन की बात मैंने बतलाई विघटन रहने का जो लोगों ने ये विपरीत प्रयोग किया एक छोर तो ये रूपरेखा देखी हमने उनको तर्क प्रमाण उठाना बातचीत करना संवाद करना प्राय नहीं सिखाया गया ठीक है तो उनको आधीन गुरु के अधीन रखा गया एक बात अपने यहां उसको स्वतंत्र बोलना सिखा दिया तर्क विचार प्रमाण देने सिखा दिया उसने खुला छोड़ दिया इसने स्वतंत्रता का भयंकर दुरुपयोग किसी काम का नहीं लिया ऐसी स्थिति जाके खड़ा हो गया तर्कवादी न अपने आप में शांति है न दूसरे शांति स्वतंत्रता का दुरुपयोग यह आपके ऊपर लागू होता है आप भी करेंगे दुरुपयोग कर सकते हैं आप यदि आपको ये अनुभव नहीं है आचरण नहीं लाके देखते आप आचरण ही इसको रोकने का एक बहुत बड़ा कारण है तर्क वितर्क से जब की हुई चीजों में यदि आचरण किया जाए तो व्यक्ति दुरुपयोग से रुक सकता नहीं तो रुकेगा नहीं क्या समझ में आया पढ़ा लिखा व्यक्ति विद्वान व्यक्ति तार्किक व्यक्ति दर्शनों का विद्वान व्यक्ति विज्ञान का व्यक्ति यदि वो आचरण करके नहीं देखता इन सिद्धांतों का विधान का संविधान का तो दुरुपयोग होगा दुरुपयोग करेगा वो इसे बच नहीं सकता कोई उपाय नहीं है यदि वो आसन करता प्रमाण तर्क से सिद्ध करने वाला यदि व्यक्ति आसन करता है वो दुरुपयोग नहीं करेगा सदुपयोग करेगा वो और अपने आसन से प्रभावित करेगा लोगों को अपने जैसे और बनाने में समर्थ हो जाएगा वो व्यक्ति और ये जो लोगों का कुप्रभाव है ये पूरे विद्वान बुद्धिमान और जानने वाले दर्शनों के किसी काम के नहीं होते ये अपना दूसरे का भला कुछ नहीं करते ये जो कुप्रभाव पड़ा इसको मिटा के रख सकता है आपकी स्थिति ऐसी बने यदि आप आचरण करते हैं पढ़ी लिखी बातों का तो दुरुपयोग होना नहीं है मिथ्याभिमान उभरना नहीं है झगड़े उभरेंगे नहीं विघटन उत्पन्न नहीं करेंगे आप संगठन करेंगे आप उल्टा करते चले जाइए अब ध्यान से सुनो यदि आपने आचरण नहीं किया तो ऐसी गतिविधि आपकी सबकी उभर के आएंगी और ऐसी स्थिति में आप स्वयं दुखी रहेंगे और उनको दुखी करेंगे ये सीख आचरण ही ऐसी चीज है इन ऋषियों की बताई बात को आचरण करके देखो सत्याग प्रकाश अच्छी सीधा समझ जाते हैं आर्य भाषा के माध्यम दर्शनों को भी पढ़े लिखे लोग अच्छी तरह समझ जाते हैं और उनका आचरण करके देखो आप कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता ये व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति ऋषि कृष्ण पढ़ने वाला ये आचरण ठीक नहीं है इसका ये दुरुपयोग करता अपनी पढ़ाई लिखाई का ये दूसरे को हराने की बात करता रहता है ठेका पानी की बात करता रहता है तू तू मैं मैं लगा रहता है दल बदल करता रहता है विघटन उत्पन्न करता ये हो ही नहीं सकता कभी नहीं होता अच्छी तरह पढ़ लो इन बातों को यदि अपना कल्याण करना हो तब नहीं तो आपकी गतिविधि विकृत हो जाएंगी या तो आप नास्तिक बन जाएंगे एक या इन संप्रदाय में जाएंगे ना सारी चीजों की सुविधा है आपको कोई रोक नहीं सकता अथवा भोग विलास में पड़ जाएंगे जैसे आज के दुआ करुआ और कच्चे बच्चे पैदा करो पड़े रहो वहां यही समझ आएंगे अब कौन से मजाना आगे कौन से मजाओगे बोलो यही विकल्प है और भयंकर ये कहना हो बहुत भयंकर तो चोर डाकू भी बन सकते हैं <laughs> खूब लूटो खाओ धर्म धर्म कुछ नहीं ये कहने की कल्पना मात्र है जैसे कि आज का नास्तिक और भौतिकवादी कहता है वो डाके का रूप आ जाएगा वो नहीं आएगा तो साधारण लोग ग्रह समझ जाते भोग विलास में पड़े रहते नाच गाने सुनते देश जाति का भी ध्यान नहीं धर्म का उसमें जाके खड़े हो जाएंगे अगली इन संप्रदायों में जो अच्छा दिखाई देगा धन मान मिलेगा आपको खूब सारी बातों की सुविधा होगी आप उसमें रहेंगे चाहे किसी ढंग से रहें अलग बात है कुछ अच्छाई भी हो सकती है पर उसी के फिर गीत गाएंगे हम वहां आ गए जा जाते आप वहां जाए इनमें से किसी भी संप्रदाय हो अच्छा ज्ञान विज्ञान ना हो तो आप ब्रह्माष्टमी पर चले जाएंगे ये गंभीर विषय है इसमें व्यक्ति सुविधा से अपनी गुस्थियों को बड़ा कठिन विषय है